यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 18 पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में एक से सात मई तक आयोजित वेणु गीत सप्ताह के अंतर्गत सात मई की प्रातःकालीन बैठक में सखीरी मुरली भरी पटरानी सखीरी मुरली भरी पटरानी सखीरी मुरली भरी पटरानी सखीरी मुरली भरी पटरानी सखीरी अधरसुधा अधर सदा सुख करत श्याम के अधर सदा सुख सुधा पियत इतरानी सखीरी सुधा पियत इतरानी सखीरी मुरली भई पटरानी सखीरी मुरली भरी कतना हाँ। अरे सखी मुरली पट रानी हो गई पट रानी का मतलब है रानियों में सबसे श्रेष्ठ कहने का आशा है कि अब राधा कुछ नहीं रही राधा तो इसकी दासी हो गई और मुरली ही पट रानी हो गई मोहे पशु पंछी द्रुम बेली मोहे पशु पंछी मोह पशु पंछी द्रुम बैली जमुना उलटी बहानी सखीरी जमुना उलटी बहानी सखीरी मुरली भई पटरानी सखीरी मुरली भई पटरानी मुरली भई पटरानी सखी रे मुरली भई पटरानी सुरनर मुनि बस भय नाद के सुरनर मुनि सब बस मन ध्यानी सखी हिंसा चल रही है केवल ब्रज में नहीं तीनों भुवन में चली बड़ाई अस्तुति मुख मुख गानी सखी अस्तुति मुख मुख गानी सूर श्याम की अवधंगिनी सुर श्याम श्याम की अगर भंगिनी सुर श्याम की रही झार लपटानी सखी कहा कि बांस और झार और धांगनी बनकर लपट रहे हैं कृष्ण झार नहीं मतलब पेड़ झार ही कहा कि झाड़ी आकर के कृष्ण की अर्धांगनी बनकर तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणास्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्ज पानी यवस कंदर कंद मूल अहो यत्र यत्र कृष्ण प्रयाति तत्र तत्र प्रयाण समर्था नाम पुलिंदी नाम आशा भाग्यम दूरे अस्तु स्थिरो अपि अयम श्री श्री गोवर्धन परम भाग्यवान इत्याहु अंतरी गोपियां फिर आपस में कहती हैं हे अबलाओं पुलिंदियों के भाग्य को कोई क्या कह सकता है जत्र जत्र कृष्ण प्रयाति तत्र तत्र प्रयाण समर्थान वृंदावन में श्री कृष्ण जहाँ जहाँ प्रयाण करते हैं घूमते हैं वहाँ वहाँ उनके साथ वहां वहां जाने में कुल इंद्रिया समर्थ है क्योंकि सचल जीव है घूमते हैं इधर वो तो भाग्यशाली है ही एक स्थान पर स्थिर रहने वाला गोवर्धन कितना भाग्यवान है जरा इसको तो विचार करो कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां वहां गोवर्धन नहीं जा सकते अचल हैं स्थिर हैं फिर भी इनका परम भाग्य है इस श्लोक में गोपियां अपने सखियों को गोपियां गोपिया या सख्या नहीं कह रही अबला कह रहे हे अबला तो अबल का अर्थ होता है जिसमें बल ना हो तो अबला बहुवचन स्त्रीलिंग में है क्या बल नहीं है गोपियों में न बलम जासम ता अबला तुम लोगों को या हमको सर्वदा अपने परिवार में पति आदि के अधीन रहना पड़ता है चाहते हुए भी हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती बल काम नहीं कर पाते गिरिराज जी का आश्रय लेंगी तो यही हमारे बल है गिरिराज जी जाने में गोवर्धन पर्वत में जाने में गोपियों को घर के लोग भी रोकते नहीं क्योंकि यह प्रसिद्ध बात थी ब्रज में कि गिरिराज जी की कृपा से मनोरथ पूरा हो जाता है और वहां पर मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव जी के दर्शन की छूट थी लोग जाते रहते इसलिए गांव की स्त्रियां भी जाती थी और गोवर्धन पर्वत के ऊपर या घाटियों में जहाँ तहाँ कृष्ण खेलते रहते हैं गोचारण करते हैं तो वहाँ पर कृष्ण से भेंट भी हो जाती है गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ बकाश तो इसलिए गोपियां यह कह रहे हैं कि गोवर्धन का समाश्रयण करने से आश्रय करने से हमारा बल हो बढ़ जाएगा यही बल है गोवर्धन की शरण लेना यही बल अच्छा। और इसके बिना तो तुम लोग अबला कृष्ण दर्शन होना कठिन पर बसता है अथवा श्री कृष्ण के प्रेम में इतना विह्वल है और शोक में भी कृष्ण से मिलन नहीं होता है चल नहीं पाते हैं पग कमजोर जैसा हो गए हैं यह प्रेम का विकार है दुर्बलता तो इसलिए कह रही हैं अबला हे बलहीन बल से सुन और हंत इति हर्ष अथवा विस्मय श्वेता श्रीधर स्वामी कहते हंत इति हर्ष हर्ष के कारण गोवर्धन को देख करके आनंद आ गया कि यहाँ तो श्री कृष्ण होंगे ही यहाँ प्राय गोचारण करते हैं तो उनसे भेंट हो जाएगी इसलिए हंत शब्द पहले निकल हंत अथवा विस्मय में कि यह पर्वत होकर के जड़ होकर के अचल होकर के और इतनी कृष्ण की सेवा करता है हमारा जीवन अधन्य है कि हम सेवा नहीं कर पाते हम तो शब्द का तत्पर्य तो अयम का क्या तात्पर्य है का अर्थ है यह श्रीता सनातन गोस्वामी लिखते हैं अयम इति तदानीम श्री गोवर्धनांतिके एवं तासाम निवासेन साक्षात अंगुल्या दर्शयंत उस समय ऐसा लगता है कि गोपियों का निवास गोवर्धन पर्वत के निकट ही था एक घंटे के लिए हो या चार घंटे के लिए हो अथवा गोप लोग अपना स्थान बदलते रहते हैं तो हो सकता है कि उस समय गोवर्धन पर्वत के निकट ही बस रहे तो गोवर्धन बिल्कुल निकट है दिखाई दे रहे हैं इसीलिए अयम शब्द का यह यदि दूर होते तो अयम शब्द नहीं कहते तो अपनी उंगुली से गोपियां दिखा रही हैं कि अरे सखी यह अद्री यह पर्वत निश्चित ही भगवान के समस्त दासों में श्री कृष्ण के दासों में सबसे श्रेष्ठ हरिदास वर्ज अथवा अयम का अर्थ है श्री कृष्ण प्रियतमत्व न तस्य तसु सदा साक्षात वो परिस्फुरते तो श्री कृष्ण का प्रियतम होने के कारण कृष्ण की प्रियतम वस्तु होने के कारण गोवर्धन पर्वत गोपियों के हृदय में साक्षात परिस्फुरित होते रहते हैं इसलिए हयम शब्द कह रहे हैं दूरी का बोध नहीं हो रहा है इतना परिस्फुरण हो रहा है गोवर्धन का अपने चित्त में अयम शब्द तो दो अर्थ किया जाए या तो गोवर्धन के निकट हैं अथवा गोवर्धन का बहुत अधिक स्मरण मन में हुआ है प्रियतम के नाते से कृष्ण के नाते से कि वह परमादरेण तम नामा ग्रहण तीसरा अर्थ करते हैं श्री प्रश्न अनुसंग अथवा गोवर्धन पर्वत के प्रति इतना गौरव भाव है इतना महान आदर का भाव है इसलिए उनका नाम हे सख्य अयम अयम अद्रि गोवर्धन ध्रुवम हरिदास सुश्रेष्ठ निश्चित ही सबसे श्रेष्ठ है हरिदास कुत कैसे जानती हो इति अत आप तब कहते हैं जसमा क्योंकि राम यो चरण स्पर्शे न प्रमोदो जस कैसे मालूम हो गया कि प्रमोद में है गिरिराज गोवर्धन पर्वत कहते हैं हिंजद तृणाद्युद्गम निधेन रोम हर्ष दर्शना इसमें सखियों ये तृण आदि का जो उद्गम है यही हर्ष का चिन्ह है हर्ष हो किंच जत जस्मात मानव तनोती और सबसे बड़ी बात यह है कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण और बलराम का तथा गौओं का और गोपों का सबका बहुत ही सम्मान करता है पूजा करता है तो सत्कार करता है कैसे पानी या यसूजवस कंदर कंद मूल निर्धर का जल और इसके साथ साथ और भी पानी के ऐसे थे मधु हैं पर्वत में बहुत से वृक्ष है उससे मधु श्रावित होते हैं मधुमक्खियां मधु लगाती हैं तो पानी का और मधु भी हुआ यवस सुकार थे तो सुंदर हर सुकार रह गए हैं लेकिन छंद के अनुरोध से आर्ष प्रयोग किया गया है छंद को पूरा करने के लिए सौ में दीर्घ उकार लगाया गया सुयवस सुयवस है यवस का अर्थ होता है तृण भोजन हम लोग के यहाँ भोजपुरी में इसको गवत कहते हैं यवस गवत यवस तृण आदि गायों के भोजन पशुओं के भोजन को यवस कहते हैं तो गोवर्धन पर्वत पानीय देते हैं बहुत सुंदर यवस देते हैं और कंदर कंद मूल आदि के द्वारा कृष्ण का सत्कार करते हैं गौों के साथ और गोपों के साथ मानव तनोती सह गोभी न सहित न सखी सह न च वर्तमान कई किन वस्तुओं से स्वागत करते हैं पानी यही सुयवस शोभन तृणय सुजवस का अर्थ शोभन तृणय कंदरश्च कंदमूलश्च जथोचितम अब जब जथोचितम का अर्थ है कि किसको किसका सम्मान किन वस्तुओं से कर रहे हैं ये समझ लेना चाहिए गोवर्धन पर्वत पानी द्वारा सुंदर त्रिलादि द्वारा और कंदरा द्वारा कंद मूल फल द्वारा जथोचितम स्वागत करते हैं जथोचितम गायों के लिए सुंदर यावस बच्चों के खेलने के लिए कंदराएं और बच्चों के लिए कंदमूल कृष्णा बलराम के लिए कंदमूल ऐसा नहीं कि गायों के लिए कंदमूल और जवस बच्चों के लिए कृष्ण के लिए जथोचितम समझ लेना चाहिए इन सब वस्तुओं द्वारा गोवर्धन सत्कार करते हैं सबका इस कारण से भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ ये तीन बार हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है भागवत में जैसे महाराज युधिष्ठिर के लिए हरिदास से राजर्षे राजसूय महोदय हरिदास रजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महोत्सव की लोगों ने बहुत सराहना की युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया और कृष्णम संस्मारयन रेमे हरिदास और कृष्ण ब्रजव कृष्ण और उद्धव जी के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रजवासियों को कृष्ण कथा द्वारा वे रमा दिए कृष्ण की याद दिलाते रहे ब्रजवासियों तो शिल सुखदेव गोस्वामी हरिदास का दो स्थान पर शिल सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है हरिदास लेकिन कृष्ण प्रेमी चूड़ामणि गोपियों के मुख से यहाँ निकल रहा है हरिदास वर्य हरिदासों के द्वारा वर्णीय वर्ज जिसका वर्ण किया जाए जिसको ग्रहण किया जाए उसको वर्ज का इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ तो तीन हरिदास हुए युधिष्ठिर महाराज उद्धव जी और गोवर्धन जी पर इन तीनों में भी हरिदास वर्ज श्री गोवर्धन और जो तो केवल हरिदास शब्द का प्रयोग यह हरिदास वर्ज हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि ये सब काम करते यथोचितम अतो अयम अति धन्य इत्यादि इसलिए श्री गोवर्धन जी सबसे अधिक धन्य है यहाँ पर हरि शब्द कहा गया है तो हरि शब्द का अर्थ है तो डायरेक्ट श्री कृष्ण होता ही है परंतु इसके साथ ही साथ भगवान के जितने भी स्वरूप है सबके लिए हरि शब्द का प्रयोग किया है इस महामंत्र में आठ बार हरि शब्द आया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम भगवान के जितने भी नाम रटे जाते हैं ये राम और कृष्ण मिला करके आठ हुए और आठ अकेले हरि शब्द बोला जा रहा हरि का संबोधन में हरे हो जाते कपि इकार पुलिंग शब्द है तो उसका संबोधन में कपे हो गए ऐसे हरि का हरे हो जाता भगवान के तीन नाम है इनको सजा करके रखा गया और जो लोग बहुत आग्रह करते हैं कि इसमें राधा रानी का नाम नहीं है तो इसीलिए हरे संबोधन को प्रथमा एक वचन में हरा कह करके व्याख्या की जाती है हरा को कहे हरे संबोधन में तो हरा का क्या अर्थ हरा का अर्थ है कृष्ण मनोहरा कृष्ण के मन को हरण करने वाले या किसी भी व्यक्ति के दुख का हरण कर लेने वाले तो हरा कर तो ऐसे ब्रज में और जगह पर प्रचलित है जैसे एक मंत्र है जुगल मंत्र राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे तब इसको भी महामंत्र को भी तब इस तरह से व्याख्या बनाया जाता है हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण और हरे राम का अर्थ भी हुआ राधे राम राम मतलब रमणीय श्री कृष्ण सबसे सुंदर कृष्ण और कृष्ण मतलब आकर्षक कृष्ण और रमणीय कृष्ण दोनों का अर्थ एक ही है राम इस श्लोक में भी जो राम शब्द आया है उसका कृष्ण ही अर्थ होगा कृष्ण अर्थ होगा इसमें किया गया लेकिन जो परंपराएं हैं अनादिकाल से ये सब बताती हैं कि ये हरे जो शब्द है यह भगवान हरि का ही है संबोधन निष्पक्ष बात कही जाए और तो। भगवान के ही नाम को रटने की व्यवस्था चली है अनादिकाल से बाद में उनकी शक्तियों को उनके साथ प्रकट करने की परंपरा चली वैष्णव में क्योंकि धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हुआ बहुत शुष्क होने लगा हाँ, जैसे जैसे काल दिखता गया वैसे वैसे लोगों की समझ कम होती गई इसलिए ब्रह्म ब्रह्म शब्द तो करते थे लेकिन ब्रह्म की शक्ति नहीं मानते थे इसीलिए भगवान की प्रियाओं को बाद में उनके साथ रखा गया नहीं तो आपने सुना है गोविंद देव जी की अकेले मूर्ति थी मदन मोहन जी के अकेले थे तो योग की आवश्यकता समझ करके यह स्थापित किया गया और वैसे वास्तव भगवान सदा अपने शक्तियों से युक्त है तो हरि शब्द का क्या अर्थ होता है जगत अशेषम पापम दुखम चित्तम च जथा जथम हरती इति हरि जो जीवों के पाप को दुख को और चित्त को हर लेते हैं उन्हें हरि कहा जाता है जथा जथा अब किसके पाप को हरते हैं किसके दुख को हरते हैं और किसके चित्त को हरते हैं ये अलग अलग बात है जैसे गीता में कहते हैं सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा तो पाप का हरण किए और पाप से ही दुख होता है इसलिए पाप हरण के द्वारा भगवान सब दुख हर लिए जब दुख के मूल को ही हर लिए तब तो दुख बचेगा तो मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा पापों के कारण जो दुख हो रहा है उससे हर लेंगे और पाप शब्द इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आगे भी पाप वासनाएं नहीं रहेंगी मैं नष्ट कर दूंगा मेरी शरण में आओ भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं और कोई पूछे कि आपकी शरण में आवे लेकिन और कोई थ्रू हो या और किसी का कुछ परसेंटेज शरण ले नहीं ये कम माँ में कम मेरी शरण में आओ एकमात्र मेरी शरण में आओ तो मुझे तुझे मैं तुम्हें मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा तो भगवान है पाप हर लेते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान पाप हरण करके और उस पाप से लिप्त हो जाते हैं या अपने घर में या अपने अटैची में रख लेते हैं सारा पाप जैसे भगवान सूर्य रोज अंधकार खाते हैं रात का नाश करते हैं अर्थात अंधकार का हरण करते हैं लेकिन सूर्य लोक में थोड़ा भी अंधकार नहीं रहता पहुंचता नहीं हर लेते हर लेते हैं समाप्त कर देते हैं कहने का सही तो श्री कृष्ण समस्त पापों को हर लेते हैं इसलिए उनको हरी कहते हैं दुख को हर लेते हैं और समस्त जीवों के चित्त को भी हर लेते हैं अपने सौंदर्य माधुर से या बेड़ू बादल से तो इसीलिए इनका नाम है हरि यथायथम हरती वे तो सबके चित्त को हर लेते हैं जंगम जीवों के चित्त को तो हरते ही हैं जड़ जीवों के भी चित्त को हर लेते हैं सारी इंद्रियों की वृत्ति को हर कर लेते हैं तो सीधा अर्थ हरि का अर्थ हरती इति हरि जो हरण कर लेता है उसका नाम है हरि क्या क्या हरण करते हैं भगवान अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मों तक रच रच करके जो लोग पाप करते हैं पाप को छिपा करके रखते हैं उनको भी भगवान भर लेते पाप रहता कहाँ है कहाँ से हरण करते हैं हरण करते हैं हृदय में बैठकर हृदय में पाप रहता है पाप का मूल हृदय ये गंदा होता है और इसे वासनाएं उठती तो जो वासनाएं हैं भगवत विरुद्ध भक्ति शून्य काम करने की वस्तुओं को भोगने की यही है पाप इस पाप को वे हर देते हैं भागवत में लिखा गया कि हरि हृदय में स्थित होकर के अपने शरणागत के पाप को नष्ट कर देते हृदय में स्थित होकर के पाप नष्ट करते हैं इसका अर्थ यह है कि जब भगवान श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय में स्फुरित होते हैं तो वे इतना सुंदर है इतना मधुर है कि उनकी ही केवल कामना भक्त को रह जाती है और कोई कामना नहीं होती है तो ऐसे ही सारा पाप नष्ट हो जैसे कोहरा को सूर्य नष्ट कर देता है वैसे भगवान हृदय में स्थित होता सारे पाप वासनाओं को नष्ट कर देता अन्य उपाय से अन्य तरीके से हृदय को शुद्ध करना असंभव है जब तक भगवान हृदय में नहीं आते हैं तब तक पाप वासनाएं दूर नहीं हो सकती इसलिए शिल सुखदेव गोस्वामी भागवत के बिल्कुल अंत में कहते हैं तस्मा सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशव इसलिए हे राजन सब प्रकार से हृदय में केशव को लाइए अपने आप सब ठीक हो जाएगा भगवान चित्त को हर लेते हैं अनंत विशेषता है भगवान की किसी को किसी विशेषता से किसी को किसी विशेषता से जैसे रुक्मिणी जी के चित्त का हरण किया कृष्ण ने अपने गुणों से अपने रूप से किसी किसी को अपने शरीर के गंध से किसी किसी के चित्त का हरण अपने शरीर के गंध से कर लिया जैसे वैकुंठ में सनकादिक के चित्त का हरण कर लिया उन्होंने अपने शरण के सुगंध से अपने शरीर के सुगंध से गोपियों को अपने रूप से हरण किया या वेणु वादन से हरण किया राष्ट्रीय में गोपियां कहते हैं चित्तम सुखे न भवता धरतम गृहेश और भी बातें कहती हैं आपके विशाल वक्षस्थल को देखकर आपकी लंबी लंबी भुजाओं को देखकर आपका अत्यंत सुंदर मुख देखकर और एकांत में जो आप प्रेम से हमसे बोले उसे सुन करके और आपके वेणु वादन को सुन करके हम आप हमारा चित्त अपना वक्त हो गया है इस तरह से हरण करते हैं और वेणु वादन का प्रभाव तो आपने सुना है किस तरह से वे वृक्ष तक के चित्र को हरण कर रहे इसलिए वे हरी तो तब तक भाव केशु और भिन्न भिन्न प्रकार से कृष्ण की शरण लेते हैं जीव कृष्ण के संपर्क में आते हैं और भिन्न भिन्न भाव के भक्त होते हैं ये सब हरिदास हैं तो तस् दासेशु मध्य श्रेष्ठ श्री गोवर्धन जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं दास हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं श्री गोवर्धन प्रमोद प्रमोद जो कृष्ण बलराम के चरण स्पर्श से सदा प्रमोद में रहते हैं प्रकर्षेण मोद प्रकृष्ट मोद मोद का अर्थ होता है आनंद सुख गोवर्धन सदा सुखी रहते हैं तो प्रकृष्टो मोदो हर्ष रोमांच स्वेदानंदाश्रु आदि स्वरूप आदि स्वरूप त्रिनाद गमार त्रिणादि तृणादि उपगम जलबिंदु श्रावणादि लक्षण लक्षण प्रकृष्ण मोद रहता है हर्ष रहता है गोवर्धन को कैसे पता चलता है क्योंकि हमेशा रोमांचित रहता है और शरीर में पसीना निकलता है आनंद के आंसू चुते रहते हैं आंखों से तो यह क्या है रोमांच है तृण घासें जो उगी रहते हैं गोवर्धन पर्वत सब जगह तो यह है रोमांच और पानी सब जगह कुछ न कुछ पसीजता रहता है तो इसको स्वेद कहते हैं और झरनों से पानी झरता रहता है ये है अश्रु बिंदु आंसू बहते रहते तो इस प्रकार सर्गदास गोवर्धन को रोमांच होता रहता है पसीना निकलता रहता है और आंसू छूता रहता है यही तो सबसे श्रेष्ठ दास की भक्त की पहचान हर्ष रोमांच आनंदाश्रुआ भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना जब तक व्यक्ति को मेरी कथाओं के श्रवण से कीर्तन से रोमांच नहीं हो जाता है होता रहता है और आंसू नहीं आता है और चित्त द्रवित नहीं होता है गला गदगद नहीं होता है तो उसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं ये चौदहवें अध्याय में एकादश स्कंध देता हैं कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेत चेतसा बिना नंदाश्रु कलया ये तीन लक्षण प्रकट होते हैं जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है कृष्ण की वार्ता के श्रवण से या स्मरण से या कीर्तन से उसमें ये अपने आप ही उद्भूत होते हैं उत्पन्न होते रहते हैं ऐसे जानबूझ करके इसे उत्पन्न नहीं किया जाता है लेकिन अपने आप भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि होता रहता है होता रहता है कभी कभी किसी किसी भक्त में देखा जाता है कि रोमांच हुआ कोई बात सुन करके और आंसू आया बाड़ी गदगद हो गई बोलने में यह पहचान है पर्वत इस तरह सदा रोमांचित रहते हैं सदा स्वेद उनके शरीर पर सदा आनंद आनंद आश्रु क्यों राम कृष्ण चरण स्पर्श राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद राम और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से प्रसन्न इतना होता है इतना सुख होता है कि उससे रोमांच होता है आंसू आता है तो श्री गोपी जन बोल रही हैं और आपने जैसे पहले सुना सदा वे श्री कृष्ण के प्रेम में बात करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति उनका बहुत ही उज्जवल माधुर्य भाव है तो फिर बीच में यहां श्री बलराम जी को क्यों बोल रही हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श स्पर्श प्रमोद राम कृष्ण राम का अर्थ है रमते सदा अर्थात क्रीड़ती सदा इति राम जो सदा रमते हैं खेलते रहते हैं आनंद में उनको राम कहते हैं या रमयती सुखयती इति राम और जो दूसरों को सुखी करते हैं रमाते हैं उनको राम कहते हैं तो ऐसे कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श पाकर राम कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श पाकर गोवर्धन बहुत प्रफुल्लित रहता तो राम का अर्थ है जो रमते रहते हैं अपने आप में आनंद में मग्न है और दूसरों को आनंद में मग्न करते हैं उनको राम कहते हैं कृष्ण शब्द का विशेषण है ना ये कृष्ण का विशेषण है राम तो राम कृष्ण ऐसा नहीं है कि और राम कृष्ण या दुखी कृष्ण राम कृष्ण का अर्थ है आनंद में मग्न राम और दूसरों को भी आनंद में मग्न करने वाला रमाने वाले और रमने वाले जो रमती या रमयत शराब किसको रमाते हैं सबको रमा देते हैं असमान अभी श्री गोपियों कहने का मतलब हम हमको भी रमाते हैं सुख देते हैं और अपने आप स्वयं रमण करते हैं सुख में रहते हैं तो इसलिए उनको राम कहा तो श्री गोपीजनों के कहने का भाव है कि श्री गोवर्धन को कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श सदा मिलता रहता है लेकिन हम हतभाग्नि हैं कि हमें उन चरणों का स्पर्श नहीं मिलता हम सेवा नहीं कर पाते जदवा तथैव राम यौ कृष्ण चरण अथवा कृष्ण चरण इसका विशेषण है राम चरण कैसा है कृष्ण का जो रमा देता है और अपने आप में रमता है कृष्ण चरण की विशेषता है राम तो वो रामो यौ कृष्ण चरण तयो स्पर्शे न प्रमोद यही है आनंद यदि संस्कृत का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा तब व्यक्ति इसको समझ सकता है नहीं तो राम अर्थ तो सीधे बलराम करेगा जो कि प्रसंगों के अनुसार उचित नहीं कुलिंदिया कृष्ण के चरण पर स्थित और तृण पर लगी हुई कुमकुम को अपने वक्षस्थल पर लगाती हैं तो उस संदर्भ में गोपियों को स्मरण हो रहा है कि उस चरण मेरे बक्षस्थ हमारे बक्षस्थल पर कृष्ण का चरण होना चाहिए तो कृष्ण के प्रति यह भाव उदित हो रहा है तो बीच में श्री बलराम जी का नाम जो ले रही है गोवर्धन में रमण करने में तो यह एक भाव तो हो सकता है कि श्री बलराम जी का नाम ले रही है तो स्वभाव गोपनार्थम अपने भाव को छिपाने के लिए लेकिन यहां यह भाव क्या छिपाना है अपने सखियों में जबकि इसके पहले लगातार कृष्ण के ही विषय में बोल रहे हैं इसलिए राम का वह अर्थ जो रमणीय हैं रमा देते हैं स्वयं रमते हैं ऐसे कृष्ण चरण के स्पर्श से तो रमते हैं तो पहले रम रमते शब्द लीजिए कृष्ण चरण शब्द कृष्ण के चरण कमल रमते हैं कहा गोवर्धन पर गोवर्धन पर्वत कृष्ण के चरण के स्पर्श से रमता है सुखी होता है तो अर्थ बाद में आएगा लेकिन कृष्ण के दोनों चरणाब्ज दोनों चरण कमल गोवर्धन पर रमते हैं चलने में बहुत सुखी होते हैं पहले यह अर्थ ले रहा चरण स्पर्श प्रमोद गोवर्धन पर्वत शिलामय है पत्थरमय है परंतु कृष्ण जब पदन्यास करते हैं कहीं भी तो वे नवनीत से भी अधिक सुकोमल अपने को कर लेते हैं तथा शीत के दिन में जाड़े के दिन में आपने अनुभव किया होगा पत्थर ठंडा हो जाता है लेकिन जाड़े के दिन में वे उसको उष्ण रखते हैं पत्थर एक तो नवनीत जैसा कोमल और दूसरा जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा तो वो जड़ पत्थर नहीं है वो चिन्मय है इच्छा में है इसलिए वे इस तरह से करते हैं तो श्री कृष्ण जब चरण रखते हैं गोवर्धन पर्वत तो कृष्ण के चरण को बड़ा सुख मिलता है वो जान बुझ करके रमता है कृष्ण चरण राम कृष्ण चरण ऐसा वो रमता है और इस कारण से जो कि कृष्ण का चरण रमता है गोवर्धन पर्वत पर तो गोवर्धन को बहुत सुख मिलता है कृष्ण के चरणों के सुख का स्मरण करके और चरण का स्पर्श क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है तो इसका अनुभव करके गोवर्धन पर्वत को बहुत सुख होता है ऐसी शिला हम लोग देखे हैं जो गर्मी के दिन में ठंडा रहती है और ठंडा के दिन में गर्म रहती है अयोध्या में एक पिलर है खंभा हम लोग जाते थे तो जाड़ा में उसको छूते थे गर्म लगता है और गर्मी के दिन में ठंडा लगता भगवान की व्यवस्था है संसार में बहुत बहुत विचित्र वस्तुएं होती हैं तो गोवर्धन पर्वत एक तो समग्र शिला को ही नवनीत से भी अधिक सुकोमल रखते थे तो यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि नवनीत से भी अधिक सुकोमल रहेगा तो कृष्ण का शरण तो धस जाएगा बिल्कुल नहीं इतना कोमल रखते थे आप नवनीत से भी अधिक कोमल फेन होता है दूध का पर ऐसी व्यवस्था रहती थी कि वो पूरा धस नहीं पाता था कभी कभी ऐसा होता था कि पत्थर बिल्कुल घल जाते थे आनंद से और गर्मी का दिन है तो ठंडा और ठंडा का दिन है तो गर्म उस पर कृष्ण खड़े होते थे तो कृष्ण के चरण के नीचे जितने भी जौ अंकुश वज्र स्वस्तिक आदि चिन्ह होते थे वो भर जाते थे गोवर्धन पर्वत सब जगह कृष्ण के चरणों का चरण चिन्हों का अलंकार गोवर्धन धारण करते और इस कारण से इन्हें प्रकृष्ट मोद है अब इस मोद के लिए आनंद के लिए केवल प्र शब्द लगाया जाता है ऐसा आनंद संसार में कोई भी सुख पाकर के कोई नहीं कर सकता कोई भी वस्तु पाकर नहीं जितना सुखी गोवर्धन और श्री कृष्ण गोवर्धन पर प्राय चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद बलराम और कृष्ण के चरण का स्पर्श करके वे आनंद में यह तो बात है ही लेकिन इसका मुख्य अर्थ है रमणीय कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त करके बहुत सुखी और रमणीय कृष्ण चरण गोवर्धन का स्पर्श पा करके बहुत सुखी रहते ये दोनों अर्थ हैं जदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमल से भी अधिक सुकोमल है इसलिए चरण कमल कहा जाता है चरणाब्ज चरणारविंदम तो श्री गोपिया जो इतना बोलने में दक्ष हैं तो भगवान के चरणों को छूछे क्यों बोल रहे हैं क्यों नहीं कमल लगाया यहाँ प्रश्न उठता है भगवान के चरण तो वास्तव में कोटि कोटि कमल से भी अधिक सुकुमार और सुंदर क्यों नहीं यहाँ पर अब्ज शब्द लगाया या कमल शब्द लगाया तो क्यों नहीं कारण यह था उनके मन में एक बार यह उदित हुआ कि हाय हाय हमारे प्रियतम के चरण बहुत सुकुमार हैं और वे पत्थर पर रखते हैं तो इस कारण से कमल कहने में संकोच हो गया कह नहीं पाए इससे व्यग्रता के कारण क्योंकि कमल से भी अधिक सुकुमार चरण है इसलिए कमल कहना उचित नहीं समझ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पद पूर्ति में वो बाधक होता है इसलिए नहीं यूज किया गया है यह आर्स ग्रंथ है कहीं से भी कमल लग फिट किया जा सकता था चरण का वर्णन करने में लेकिन नहीं किया गोपियों के मन में आया कि कमल जैसा कहना यह उचित नहीं बहुत ज्यादा सुकुमार है सुंदर कमल के अपेक्षा और कमल तो कुछ काल के लिए सुंदर रहता है बाद में मुरझा जाता है सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान के मुख को देखकर भगवान के चरण कमल चरण को देख करके कमल आज तक मुंह लटका करके रहता है कभी संकोच में बंद होता है तो कभी खिलता है देखता है चरण तो फिर आंख बंद कर लो तो कमल इस तरह रात्रि में बंद हो जाता है और दिन में खिलता है तो ये कहते हैं गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में कि कृष्ण के चरण कमल की शोभा को देख करके आज तक बेचारा कमल मुरझाया तो उसको हुक लग गई इसलिए सीन उठा करके जल्दी नहीं देखता और चंद्रमा जब से मुख को देखा है कृष्ण के तब से अब वो गलगल करके आधा हो जाता है चौथाई हो जाता है अमावस्या के दिन तो पूरा भाग जाता है किसी के मुख की शोभा का वर्णन चंद्रमा से किया जाता है जैसे किसी स्त्री के मुख का वर्णन लोगों ने किया चंद्रमुखी चंद्रमा जैसा मुख है लेकिन जब कृष्ण हुए प्रकट इस जगत में तो चंद्रमा से कोई तुलना ही नहीं करता था और चंद्रमा देखा कि अच्छा ठीक है हमसे उपमा दी जाएगी तो हमारा गौरव रहेगा लेकिन जब चंद्रमा ने कृष्ण का मुख देखा तो हुक लग गया शोक सा गया गलने लगा अरे बाप ऐसा मुख मेरे साथ इसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती क्योंकि वो तो घटई बढ़ई दुखता दुखदाई घटता है बढ़ता है गृहिणियों को दुख देता है लोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो गोवर्धन जी कृष्ण की सेवा करते हैं कृष्ण के गौवों की सेवा करते हैं और कृष्ण के सहचरों की सेवा करते हैं मानव तनोती साधु के जितने भी गुण होने चाहिए उसमें से यह एक अनिवार्य गुण है कि वह भगवान की सेवा करे और भगवान के दासों की सेवा करे भगवान के सहचरों की तो उसको बता रहे हैं किस तरह से ये सेवा करते हैं मानम तनोती मान का विस्तार करते तनोती का अर्थ विस्तार करते हैं विस्तार करने का अर्थ है खूब अच्छी तरह से जहां जथा शक्ति गोवर्धन सेवा करते हैं गौओं की और कृष्ण के पार्षदों की सखाओं की और कृष्ण के और बलराम जी गो शब्द न अन्य अपनी पशव उपलक्ष्य मानव तनोत सह गो गणयो सह गो गौओं के साथ कृष्ण की सेवा करो इसका अर्थ है जब कृष्ण की सेवा करते हैं उसी समय सबकी सेवा करते हैं अथवा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार से गौों की सेवा करते हैं सखाओं की सेवा करते हैं गिरिराज जी और कृष्ण की सेवा करते हैं तो गौ शब्द से अन्य पशु भी समझ लेना चाहिए मनुष्य के लिए या पशु के लिए पीने लायक पदार्थ अर्थात पानी पानी का सीधा जल अर्थ पहले किया जाएगा जल बहुत आवश्यक कथन जिसे अपने आप झरत होता था बहुत सुंदर और स्वाद और सुगंधित जल सुगंधित जल कुछ शिलाएं ऐसी होती थी जिनमें अपने आप सुगंध निकलती थी और जड़ी बूटी से टकरा करके पानी आता था बहता था इसलिए शीतल सुगंधित स्वादिष्ट स्वच्छ जल झरझर झरझर झरते हैं और उसको पीती थी गौवें गौड़ और कृष्ण गौवें तक स्प्रिंग वाटर पीती थी गिरिराज जिसे शुद्ध निर्झर के पानी गिरते रहते उसको पानी पानीय कहते थे बहुवचन नहीं जल मधु आदि जल और मधु आदि पीने के दीर्घत्वम आर्षम इसमें जो सु शब्द है वो दीर्घ है तो उसका अर्थ ये आर्ष प्रयोग है और छंद के अनुरोध से रखें दीर्घत्वम आर्षम निरोधा सुयवस का क्या अर्थ है सुयवसानी कोमलानी सुंदर यवस सुंदर गवत का अर्थ है बहुत सुंदर त्रीण सुंदर त्रीण का अर्थ क्या है पहली विशेषता है कोमलानी कोमल कोमल त्रिण और गुण है पुष्टि वर्धनानी जो गऊ को पुष्ट कर देते हैं घास ऐसे ऐसे सुंदर ऐसी घास सुंदर है कि उसको खा करके पशु पुष्ट हो जाए शरीर को पोषने वाले तत्व तो सारे उस घास में भरे पड़े ऊपर से कुछ छिड़कने की जरूरत नहीं है नमक या खाली या हुआ यदि हरी हरी घास मिले पशुओं को तो सबसे ज्यादा पुष्ट वो उससे होते हैं तो पुष्टि वर्धनानी दुग्ध संपाद कानी और दूध दुग्ध संपाद कानी ऐसे ऐसे घास जिनसे दूध बहुत बनता है तो शरीर में बल बढ़ता है उन घासों को खा करके और दूध बढ़ता है इसलिए उनको सूजवश कहा बहुत सुंदर गवर गोवर्धन जी देते हैं गौएं खा खा कर पुष्ट होती हैं और बहुत दूध बढ़ता है उनके थानों में जो पानीयम का अथवा पानीयम सुयते क्षर सूयते पानीय सुय मृदुनी जवसन अथवा यवस का विशेषण पानीय किया गया है ऐसे गवर जिनमें पानी चूता रहता है ठंडा ठंडा सूखा घास में सूखी घास में बहुत अच्छा सी आजकल के तो पशुओं को पानी में भूसा डालते हैं तब खाते हैं पानी से थोड़ा उसको कोमल बनाया जाता है जो लोग सेवक हैं वो लोग ऐसा करते हैं नहीं तो दूसरे लोग बस सूखे भूसे डाल दिए बस खाओ चाहे मत खाओ और उसी को मान लिया जाता है गोसेवक शिरोमणि सूखा भूसा डाल लेकिन वास्तव में जो गोसेवक होते हैं उसमें खली मिलाते हैं चोकर का पानी मिलाते हैं और कई प्रकार से उसको सिक्त करते हैं सूखे भूसे लेकिन गोवर्धन में जो घास तृण उग रहे हैं वो अपने आप पानी पानी से युक्त है पानी का अर्थ है बहुत ही सुंदर स्वाद बढ़ाने वाला घास का स्वाद बढ़ाने वाला तत्व अपने आप घास के साथ जुड़ा हुआ है ये पानी एक अर्थ जैसे घास को आप ऐसे दबाइए तो पच पच पानी आएगा न कोमल इतना ऐसा कोमल घास मृदुनी जवसानी जदवा सुयवा प्रस्रव की इति क्वचित पाठ तो पुष्प और फल बहुत अच्छे अच्छे हैं और भू उपवेशार्थम सुंदर स्थान नित्य अर्थ कंदरा कंदरा का अर्थ गुहा है गिरिराज जी में सैकड़ों गुफाएं हैं और उन गुफाओं में जत्र तत्र सर्वत्र व्यवस्था है रत्न पर्यंक रत्न की सज्जा भीतर गिरिराज चिन्मय है कोई जड़ नहीं रत्न की सज्जा और रत्न का पीठ और रत्न का प्रदीप और रत्न का विलास स्थान तो कभी कृष्ण सोना चाहते हैं चाहे उनके गण है हजारों हजारों लड़के हैं और सबको थकावट है गोचारण कर विश्राम करने की इच्छा है तो गिरिराज जी की गुफाओं में गए और और जाड़ा का दिन है तो गुफा गर्म है और गर्मी का दिन है तो ठंडा और सबके लिए अलग अलग बेस लगा सो ये बैठना चाहें तो उनके लिए उपदेश स्थान है बैठे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं उसी में बहुत प्रकार के नाटक भी करते हैं बाध्य हो रहा है और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं गुफा में तो गुफाएं और प्रतिध्वनित होती हैं पत्थर से टकरा करके शब्द बड़ा जमता है कुछ गाना होता है तब भी वो लोग भीतर चले जाते हैं बाहर तो आकाश में हवा में उड़ जाता है शब्द लेकिन गुफा में खूब गूंजता है टकराता है तो सोने का भी स्थान है रत्न पर्यंक बैठने का है या लेटने का इसको विलास कहते हैं आधा केवल लेटना चाहे तो आराम कुर्सियां हैं फैल करके रहते प्रदीप एक क्योंकि एक बात यहाँ शंका हो सकती है कि गुफा में प्रवेश करते हैं गुफा बड़ी है तो तो अंधकार से भरी होगी गुफाओं में बहुत भयावह अंधकार रहता है और बहुत हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं उसमें भालू सिंह बाघ तो कोई बच्चा उसमें कैसे जाएगा लेकिन नहीं ऐसी गुफाएं नहीं ऐसे प्रदीप स्थान स्थान पर है प्रदीप प्रदीप का अर्थ है घी का दीपक नहीं जलाया जा रहा है ऐसे रत्नमय दीपक रखे हुए हैं कि पूरा अंधकार नष्ट रहता है तो कोई धुआं नहीं उड़ रहे आजकल तो बिजली चली जाती है तो लाओ लाओ लाओ लाओ कैंडल और मोमबत्ती का धुआं भर जाता है घर में उससे तो अंधकार अच्छा था धुआं से तो गिरिराज जी की गुफाओं में रत्न के दीपक होते हैं उसे थोड़ा भी धुआं नहीं निकलता कुछ नहीं अपने आप जगमग रहते हैं कूलिंग लाइट रहती अपने आप ऐसा रत्न ऐसा पत्थर ही ऐसा रत्न ही है कि वो अपने आप है बड़ा बड़ा रत्न चमकता रहा आदर्श आदर्श करते शीशा कोई बच्चा अपना मुख देखना चाहे श्रृंगार करना चाहे तो सब चीज सुलभ जहाँ तक वो स्फटिक के मणिया हैं चाहे शीशे चमक रहे हैं उसी में पत्थर में ही अपना मुख देख लो श्रृंगार आदर्श आदय अपनी उपलक्ष्य तो गुफा शब्द से ये सब उपलक्षित रत्न पर्यंक पीठ कुर्सी प्रदीप और शीशा इत्यादि शीशा एक ग्लास नहीं मणि का दर्पण और कंद कंद मूल से तात्पर्य है वन में जितने भी प्रकार के फल आदि मिलते हैं सब कंद और मूल शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन फल का प्रयोग नहीं किया गया क्यों कंदर कंद मूल कंद और मूल में कोई वास्तविक भेद नहीं है स्वरूप भेद नहीं है थोड़ा थोड़ा आकार में भेद होता है लेकिन वो जमीन के अंदर ही बैठते हैं फल इसलिए नहीं कहा गया कि अपने आप समझ लेना चाहिए फल तो चारों तरफ भरा पड़ा है वो तो सेवा करते ही इसके साथ कंद मूल फल देते हैं तो कंद मूल से सेवा करते हैं तो क्या गिरिराज जी स्वयं ही अपने में से उखाड़ करके ला देते हैं नहीं इसका अर्थ है कि इतनी मिट्टी हल्की रखते हैं कि कोई बच्चा ऊपर से पकड़े और कंधे निकाल दे कृष्ण को या उनके सखाओं को देने के लिए ही उत्पन्न किए ऐसा नहीं कि एक कंध को खोदने में ही एक डेढ़ घंटा निकल जाए और उधर गौने निकल जाए दूसरी तो तरफ बहुत आसानी से निकल निकाल लेते हैं कंध मूल तो इन सब वस्तुओं के द्वारा सेवा करते हैं इसलिए धन्य है गिरिराज तुम लोगों में शक्ति नहीं है इस प्रकार की सेवा की क्योंकि तुम लोग अबला गिरिराज्य में जो सामर्थ है कृष्ण की सेवा करने की कृष्ण की सेवा करना कठिन है कृष्ण के सखाओं की और गौओं की कहा से सेवा हो पाएगी तो अबला या करना भी चाहती हैं तो पति आदि के पारतंत्र में रहना पड़ता है बल नहीं हो कथनचित दास्यम अपनी न घटे पैती और हम लोगों के लिए तो कृष्ण की दासता भी संभव नहीं हो पाती है अहो बत अभाग्य वैभवम की भाव हमारे अभाग्य की कितनी समृद्धि <laughs> कितना अधिक अभाग्य भी अस्मत हम लोगों को धिक्कार रामम जगन मनोरमम जब कृष्ण से चरणम आचरणम अब यहाँ चरण शब्द का अर्थ है लीला से कर रहे हैं श्रीपा सनातन गोस्वामी अब तक तो चरण के स्पर्श से प्रमोद बताया जा रहा था लेकिन श्री गोपीजन चरण शब्द लिखी है पद नहीं लिखी ये अंग्री नहीं अंग्री नहीं कही चरण कही तो चरण का अर्थ आचरण भी होता है उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है आचरण का अर्थ चलना खेलना गाना बोलना विविध लीलाओं को चरण कहा जाता है उसे हम आ लगावे या न लगावे कोई जरूरत नहीं चरण का अर्थ ही है लीला तो चरण स्पर्श प्रमोद चरण के स्पर्श से प्रकृष्ट आनंद है गोवर्धन को तो स्पर्श का क्या अर्थ होगा चरण का तो ठीक है लग जाएगा कि आचरण लीला क्रीड़ा लेकिन स्पर्श का का अर्थ क्या जा रहा विश्रापणम वितरणम स्पर्शनम च विस्तारणम वितरणम स्पर्शनम अमर कोश में यह कहा गया है कि विहरण शब्द वितरण और स्पर्श शब्द से व्यक्त होता है स्पर्श शब्द भी विहरण अर्थ में है आचरण अर्थ में है यह स्पर्श शब्द इस अर्थ में है लीलाओं का स्पर्श हो रहा है विस्तार हो रहा है हाँ, यह हमें बोला विश्रावणम वितरणम स्पर्शनम चरण विस्तार आचरण विस्तार लीलाओं का विस्तार गिरिराज में सब कहीं कृष्ण झूला झूलते हैं कहीं गुफाओं में लुका छिपी का खेल खेलते हैं आंख बिछौनी खेलते हैं कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं विविध रास विहार करते हैं गोवर्धन की घाटी में दान मांगते हैं गोपी जनों से कई प्रकार की लीलाएं होती है तो इसको चरण स्पर्श कहते हैं चरण विस्तार आचरण विस्तार लीला विस्तार और इसके कारण गिरिराज जी प्रकृष्ट मोद में रहते भगवान के क्रीड़ा के स्थानों में गिरिराज जी का एक अनूठा स्थान है तो पहले यह कहा गया कि भिलनिया तो सौभाग्यवती है ही क्योंकि जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां वहां जाने में समर्थ हैं लेकिन ये पर्वत तो एक जगह रहेंगे लेकिन कृष्ण स्वयं ही आकर के खेलते ही रहते हैं इनमें इसलिए गिरिराज गोवर्धन सबसे अधिक भाग्यशाली सर्वदा सदा तत्क्रीड़ा सुख इत्यर्थ अब यहाँ प्रमोद शब्द का अर्थ किया गया राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद प्रमोद का अर्थ होता है आनंद में उत्सुक तो रमणीय कृष्ण के लीलाओं के स्पर्श में अर्थात विस्तार में ये सदा उत्सुक रहते या कृष्ण की लीलाओं का संपादन कर, करके ही गिरिराज जी को सुख प्राप्त हो श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत के रस का स्वादन करने के लिए उसके संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है स्पर्शनम शब्द का अर्थ हम लोग केवल यह समझेंगे टच स्पर्श लेकिन यहाँ स्पर्श का शब्द का अर्थ है विस्तार शरण विस्तार मतलब लीला विस्तार आचरण विस्तार और इससे गिरिराज जी बहुत खुश होते हैं चाहे यह करने के लिए उत्सुक रहते हैं लीला विस्तार लीला के लिए स्थान देना तत्क्रीड़ा संपादन तत्श्रावणादिना सर्व दुख हरणा सेवा विस्तारना च सर्वेशा में सिद्ध जब श्री कृष्ण को इस तरह सुखी करते हैं तो सबको सुख मिल जाता है यह कहे कहे होते कि गोपों के लीला का विस्तार ये गौओं की लीला का विस्तार वरना कहकर कृष्ण के लीला विस्तार की बात कर रहे क्योंकि कृष्ण को जब सुख दे रहे हैं तो उसे अपने आप समझ लेना चाहिए कि सबको सुख मिला है जब वह रामयो कृष्ण चरणयो इव स्पर्श प्रमोदो जस्य एक स्पर्श अथवा रामयो कृष्ण चरणयो रमणीय कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके जैसी खुशी होती है जिस जितना आनंद होता है किसी को उतना आनंद गिरिराज जी का स्पर्श करके होता है एक यह भी याद आनंदस्व सिद्ध हरिदास वर्जत्व न निरंतर विचित्र प्रेम विहार श्रेणी भी तत्चरण स्पर्शमय तया युवास्मिन संपत्ति अलम अति न श्रीका सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हम क्या विस्तार करें रसिक भक्त स्वयं ही चिंतन करें किस प्रकार से गिरिराज जी में कृष्ण लीला करते हैं और गिरिराज जी सेवा करते हैं सबकी और गिरिराज जी में बिहार करके श्री कृष्ण को कितना सुख मिलता है कृष्ण के बिहार से गिरिराज जी को सुख मिलता है और गिरिराज जी को सुख मिल, मिलता कृष्ण को सुख मिलता है गिरिराज में बिहार करके और गिरिराज को सुख मिलता है कृष्ण के बिहार से तक श्रीपा सनातन गोस्वामी का भाव भी कहा गया संक्षेप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाव सुनिए हंत सख्यो महदाश्रयणम बिना नैव मनोरथ फलती हे सखियों जब तक महत पुरुषों का आश्रय नहीं लिया जाता है तब तक मनोरथ सफल नहीं और महत्वम तो हरिभक्ता एवं और महत्ता हरिभक्तों की ही है तेसामपि मध्य श्री गोवर्धनो गिरिंद्र एवं मुख्य और महत पुरुषों में भगवत भक्तों में सबसे बढ़ करके गिरिराज गोवर्धन ही है इति गार्गी मुखात श्रुतम यह हमने गार्गी के मुख से सुना है तद अस्य तत्र मानस गंगायाम स्नात्वा तद अधिदैव श्री हरिदेव नामनो नारायण से दर्शनार्थम जाना तो इसलिए हम लोग ऐसा करें कि गोवर्धन में मानसी गंगा है तो उसमें चल करके हम लोग स्नान करें और वहां उसके अधिदैवत मानसी गंगा का अधिदैवत चाहे गिरिराज जी के अधिदेव इष्ट देव भगवान विष्णु रहते हैं जिनका नाम है हरिदेव तो उनका दर्शन करने जाएंगे चल, चलो उनका दर्शन करेंगे क्योंकि इति अत्र गुरु जनाना नई नयो विप्रतिपत्ति इसमें गुरुजनों का भी कोई विरोध होता नहीं मैं हरिदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं हरिदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो गुरुजन भी विरोध नहीं करेंगे लेकिन वो तो उस हरि का दर्शन करने जाना चाहिए तो गंगा जी में स्नान करेंगे और हरिदेव नामक नारायण का दर्शन करेंगे तो गुरुजन भी मतलब सास ससुर आदि भी इसमें कोई विरोध नहीं करेंगे और कृष्णों की तत्र खेलती इति और कृष्ण वही खेलते हैं विहार करते हैं तो उनसे भेंट होगी सेवा करेंगे इति निश्चित वक्त श्री गोवर्धन में वह सगण कृष्ण वांछित साधकम सवांछित सिद्ध्यर्थम स्तुवंती तो गोवर्धन श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करते हैं उनके गणों के साथ गवों के साथ तभी हम लोगों की भी इच्छा पूरी करेंगे इसीलिए गोवर्धन की प्रशंसा कर रहे हैं हंत हंत विस्मय हरिदासेशु दिशु अपनी मध्य मुख्या ये त्रय हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं जैसे नारद जी आदि या हरिदास जैसे नारद जी इत्यादि तो उनमें भी मुख्य ये त्रयो ये तीन मुख्य हैं हरिदासा युधिष्ठिरोद्धव गोवर्धना युधिष्ठिरोद्धव गोवर्धना ये तीन है युधिष्ठिर उद्धव और गोवर्धन तेसु अपनी मध्य अयम अद्री रेव हरिदास वर्जन उसमें यह अद्री पर्वत ही सबसे श्रेष्ठ तो तीनों को कहां कहां कहा गया है हरिदास देखिए हरिदास से हरिदासस्य राजर्षे राजसूयम महोदयम इति युधिष्ठिर युधिष्ठिर में हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया कृष्णम संस्मार अमरे में हरिदासो ब्रज उद्धव या उद्धव और हमता मद्री रबला हरिदास वर्ज इत्यस्मिन अस्मिन पर्वते अपनी हरिदास पद प्रयोगा चरण न शिला द्रवा गभी व्यंजितो प्रमोदो जस्य स रामकृष्ण के और चरण स्पर्श से यह प्रकृष्ट मोद में रहता है पर्वत कैसे पता चलता है क्योंकि शिला द्रव आदि होता है शिलाएं पिघलती रहती शिला द्रव आदि से या निर्जल के पानी आदि गिरने से या तृण द्वारा इसका प्रमोद पता चलता है चरण स्पर्श सती शिला नाम पंक धर्म प्राप्त्या जब शिलाएं चरण का स्पर्श होता है तो शिलाएं बिल्कुल कोमल हो जाती है अपने को नवनीत जैसा कर लेती है या गोवर्धन जी अपनी शिलाओं को इस तरह कर लेते हैं तो पंख सा धर्म प्राप्त है पंख सा धर्म प्राप्त है पंख जैसी शिलाएं हो जाती है जितनी कठोर शिलाएं होती है वो पंख बन जाती है कीचड़ बन जाते हैं पंग और उसमें ध्वज वज्रांग कुशादी का चरण चिन्ह तो उस पर कृष्ण का चरण चिन्ह बनता है और निर्झर झरना तथा तीर्णों के उद्गम से तथा ये अश्रु पुलकादि होते रहते ये प्रमोद व्यंजक आदि है ये प्रमोद के व्यंजक अत्र राम पद को भाव गोपनार्थ गोपन गोपनार्थम यहाँ राम शब्द जो कहा गया है बलराम जी को अपने भाव को छिपाने के लिए मैं दोनों भाई के लिए बोल हैं कोई एक में स्पेशल अटैचमेंट नहीं यह एक बोलने की कला होती है स्वभाव गोपनाथ अथवा श्लेषेण या श्लेष से अब दूसरा अर्थ किया जाता है रामो रामो नील चारु सीते त्रिशु इति अमर कोश कोशा तो अमर कोश में बताया गया है कि राम शब्द का अर्थ है नील सुंदर और असित सीत है शीत है नील चारु और सीत सित का अर्थ होता है उज्ज्वल और चारु का अर्थ है सुंदर और नील का अर्थ है नीला इन तीनों में राम शब्द का प्रयोग किया जाता है और भी है और चीजों में राम शब्द का प्रयोग होता है तो इसमें भी यहाँ राम शब्द का प्रयोग किया गया है चारु शब्द के चारु का अर्थ सुंदर राम इति अमर को तो यहाँ अर्थ है रमणीयो यह कृष्ण तस्य चरण स्पर्श न प्रमोद तस्य चरण स्पर्श रमणीयो यह कृष्ण तस् हे अबला इति पति पार्वस्यवती नाम जुष्माकम तदा श्रेण में वह बलम बुद्धते भाव हे अबलाओं पति के अधीन रहने वाले तुम लोगों के लिए गोवर्धन ही बल है क्योंकि गोवर्धन में हरिदेव जी का दर्शन करने में कोई बाधा नहीं यहाँ ये बल की स्फूर्ति हो रही जत जत प्रमोदा देव हेतु तो मानम तत् प्रसाद नियम पूजा तनोती इसी आनंद से गिरिराज जी खूब पूजा देते हैं उपहार देते हैं कृष्ण को उनके सखा और गौों के साथ सह गोभी गणे न सखवी समूहे न च वर्तमान में तयो कई किन वस्तुओं से सम्मान करते हैं पानियानी पानियानी का अर्थ पाद आचमनीय पानार्थ पैर धोने के लिए जल देते हैं आचमन के लिए जल देते हैं और पीने के लिए जल देते हैं और आदि शब्द से स्नान करना गौवें भी खूब नहाती हैं पीती हैं भगवान नहाते हैं पीते हैं आश्रम को इसके लिए जब कभी कभी कृष्ण ऐसे नहाते हैं गिरिराज से झरने झरते और उसमें भी छम छम छम छम नहाते रहते झरनों में नहाने का आनंद एक अद्भुत आनंद है तो इस तरह से पानी यानी बहुत वचन में पानी पाद्य आचमन कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले पाद्य अर्पित किया जाता है पाद्य का अर्थ होता है पद संबंधी जल पैर धोने के या जो श्रेष्ठ वैष्णव आदि हो तो स्वयं चरण धोया जाता है केवल उनको जल नहीं दे दिया जाता कि झोल धो लीजिए चरण पाद्य और आचमन आचमन का अर्थ है मुख धोना आचमन का केवल यही अर्थ नहीं होता है कि पीतल के पात्र में छोटा छोटा पानी लेकर के बस ओठ को गीला कर लेना इसका अर्थ होता है मुख को अच्छा से धोना आचमन और पान पीने के लिए सुगंध शीतल निर्धर जलानी अर्थ तथा नैवेद्यार्थम अच्छा ये तो हुआ आसमान पीना और नैवेद्य नैवेद्य कहते हैं खास करके ठोस पदार्थ खाने के लिए तो नैवेद्यार्थम पानीया नैवेद्य पानी अर्थात पेय मधु आम्र पिलवादी रसश्च मधु और आम और पीलू आदि बहुत से फल हैं उनका बच्चे रस चूसते हैं तो उसको भी पेय ही कहा जाए खा नहीं रहे पी रहे हैं फलों को सुजवसानी और सुंदर गौर यहां पूजा शब्द मान आया है इसलिए पूजा में कौन कौन द्रव्य लगते हैं चक्रवर्त के पाजी बताते हैं अब अभ्यार्थम दुर्गा और गवाम ग्रासार्थम सुगंध सुकोमल पुष्टि वर्धन दुग्ध संपादकानी तृणानी अच्छा अच्छा दुब भी देते हैं जिसे पूजा की जाती है और खूब सुगंधित घास जगवा पानीयम सुयते पानीय निर्जराश्च निर्झराश्च निर्झर कंदरा उपवेश सज्जायाम विलासाद्यार्थम में सुख दुखदा गुहाश्च भक्षणार्थम कंदमूलानी च और तत्रत रत्न प्रजंक प्रदीप आदर्श आदि अति उपलक्ष्य तय इन सब से गिरिराज जी सेवा करते रहते हैं कृष्ण के लिए तो बात तो सब समझ में आ गई एक एक शब्द कि श्री गोपियां श्री गोवर्धन जी के विषय में क्या कहते हैं तो एक एक बात का स्मरण करना चाहिए और कैसे कोई व्यक्ति हरिदास बनता है इसमें मुख्य बात है कि उसे भगवान का स्पर्श प्राप्त होना चाहिए चरण स्पर्श और भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा होनी चाहिए तब हरिदास और जो इस कार्य में सबसे श्रेष्ठ हो तो हरिदास वक्त हो जो गोवर्धन सब कुछ देते हैं और सबको देते हैं कृष्ण के गौओं को और कृष्ण के सखाओं को कृष्ण को बलराम जी को और सब चीज अपने सुना भोजन देते हैं पीने के लिए देते हैं और सज्जा बैठने के लिए खेलने के लिए गुफाएं सब कुछ झूलने के लिए वृक्ष इसलिए गिरिराज जी पर्वत हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हरे कृष्ण तरटी गोवर्धन की रही तरटी गोवर्धन की रही तरटी गोवर्धन संप्रति मदन गोपाल लाल के निसप्रति मदन गोपाल लाल के नित प्रति मदन गोपाल चरण कमल चित गही तरैती चित गोबर धन की रहिए तरैती गोबर धन की रहिए तरैती गोबर धन की है तन पुलकित ब्रज रज में लोटत तन पुलकित ब्रज तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंडन है ये बरधन की करती की करती की करती और जब बात करने की इच्छा हो कोई तो सीधे गिरधारी जी से बात कीजिए रसिक प्रीतम हित चित की बात रसिक प्रीतम रसिक प्रीतम हित चित की बात श्री गिरिधारी जिस है गिरधारी जो सकली है तरती गोबर धन की रही है तरती गोबर धन की रही है तरती गोबर धन की रही है तरती गोबर धन की रही यह पद बहुत प्रसिद्ध है बहुत प्रिय है वैष्णव समाज में थी जय गोधन मयूर नव कुंजन कवि गिरि जय गोधन सुखी जय महाराज नंद के बदल को सुखी जय महाराज नंद के को कई भाषा के शब्द हैं सब लोग नहीं जानते हैं बगर का अर्थ होता है झुंड या बाघ हमारे यहाँ कहते हैं कब बाघ भेड़ बारिश बगर मैंने मतलब झुंड सौ सौ झुंड को एक बगर पशु की जय महाराज नंद के बगर को पशु की जय महाराज नंद के बगर को नर की जय कौन जान राधे राधे नाम रटे नर की जबर कुल कालिंदे कगर को जबर कुल कालिंदे कगर को इतने पे जो कुछ कीजिए कल होली लीला का पद गाया जा रहा था सूरदास जी का एक पद पदमाकर जी का है उसको गा लेते हैं पृष्ठ सताइस पद एक श्लोक है ये कवित है बहुत बड़ा पद नहीं है सताइस पृष्ठ पहला पद है एक कै संग धाय नंदलाल और गुलाल गौ कृष्ण होली खेल रहे थे राधा रानी के साथ और दौड़े दौड़ करके उन्होंने गुलाल मारा तो गुलाल आंखों में आया और कृष्ण का सौंदर्य भी साथ में ही जाकर आंख में गड़ गया तो कृष्ण की छवि गड़ गई तो गुलाल और लाल कृष्ण दोनों एक ही साथ आ गए एक ही साथ आंख में आ गए और गए जो भरी आनंद मढ़ाए नहीं और आंख में दोनों छा गए फिर भी बहुत आनंद आ रहा था गुलाल आया और उसके पहले लाल आ गए <laughs> गुलाल आंख में घस गया इतना आनंद हुआ कि आनंद मढ़ाए नहीं मढ़ाए मैंने आनंद को मढ़ा नहीं जा सकता सीमा नहीं बनाई जा सकती उसको और मैं धोने लगी गुलाल को धोने लगे लेकिन धोई धोए हारी पदमाकर तिहारी सौंप सखी तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ धो धो करके हार गई लेकिन अब कोई उपाय नहीं निकल रहा है कि कैसे उस लड़के को अहीर के लड़के को आंख से धोकर बाहर कर दो गुलाल तो निकल गया वो तो एक बार धोने से ही बाहर आ गया लेकिन जो लाल गड़ गया हृदय में वो नहीं निकल रहा है एक संग धाय नंद लाल गुलाल दो धोय धोय हरि पद मकर तिहारी सोह चित पछड़ नहीं अब तो, तो अब तो एक भी उपाय चित्र समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं गुलाल तो पानी से खत्म हो गया लेकिन नंदलाल कैसे निकलेगा आंख से अब तो हार गई खुद धोने से थोड़े निकलेगा अब तो उपाय ये कोचित चढ़ नहीं अब तो उपाय ये कैसी करो कहाँ जाऊँ का सो कहूँ कौन सुने कैसी करो कहाँ का सोजा सो दर्द बड़े नहीं वो तो आंख नहीं नहीं है ना आंख के रास्ते से कलेजा में धस गए हैं तो कोई तो निकालो जिसे दर्द बढ़ने ना पाए तेरी मेरी वीर जैसे तैसे ही मैं आखी ना सोए मेरी कढ़ी गोया वीर पया हीर को तो कढ़ नहीं कढ़ी गोया वीर पया हीर को तो कढ़ नहीं अबीर कर गए तो परंतु अहीर का नहीं कढ़ा मैंने अहीर नंद का लड़का नहीं कढ़ा इन आंखों से अबीर तो निकल गया तेरी मेरी वीर जस तसई न आखी न सोएरी मेरी वीर कढ़ी गोया वीर पैरा हीर को करे नहीं कढ़ी गोया It's